अनोशो टॉक नए मनुष्य का धर्म नंबर थ्री तो अत्यंत परेशानी में रही वो निर्णय यह है कि मन को जिस ओर जाने से रोको मन उसी ओर जाना शुरू हो जाता मन को जिस बात का निषेध करो मन उसी बात में आकर्षण नहीं हो पाता मन से जिस बात के लिए लड़े मन उसी बात से हारने को मजबूर हो जाता लाभ इज रिवर्स इफेक्ट के जगत में उनको कमजोर का मोल है इस नियम को थोड़ा समझना जरूरी है फ्राइड अपनी पत्नी के साथ एक दिन वीरों के बगीचे में घूमने गया छोटा बेटा उसके साथ वे दोनों बगीचे में देर तक घूमकर बातचीत करते रहे और जब बगीचा बंद होने का समय आ गया तो दोनों दरवाजे पर आए तब उनको ख्याल आया कि उनका बेटा बहुत देर से उनके साथ नहीं फ्लैट की पकड़ तो घबरा गई द्वार बंद हो रहा था माली दरवाजे बंद कर रहे थे बड़ा बगीचा था बेटा कहा हो वो घबरा के कहने लगी मैं कहा खोजेंगे फ्रायर ने कहा पहले मैं तुझसे एक बात पूछू तुमने अपने बेटे को कहीं जाने को मना क्यों किया अगर नहीं किया अगर पूरे बेटे में थोड़ी भी बुद्धि हो तो सौ निर्माण निन्यानवे मौके पर वो वही होना चाहिए जब मना किया गया उसकी पकड़ने का उन्होंने कहा था फवाद पर मत जाओ फ्राइड के तो क्या चले अगर वो बेटा के आप बुद्धि हुई हो तो और कहीं भी हो सकता है अगर थोड़ी बुद्धि तो हो तो फवाद पर होना चाहिए ये दोनों बेटा फवाद उसकी तकनीक में ध्यान देंगे उसमें कहते हैं कैसी जानते कि बेटा पढ़ाई करो प्राण कहा जो मन का सीखा तो मन में जाए जानिए तो मनो जो मन जरूर चला गया और तेरा बेटा मुझे चला गया सारे मनुष्य का गांव चले गए है जहां मनुष्य को जाने से मना किया गया लेकिन तो इस छोटे से सूत्र को अब तक नहीं समझा जा सका और इन्होंने सज्जन कहते हैं साधु संत कहते हैं वही तो लोग तो मनुष्य को बुराई में ढकेलने का कारण बने हैं तो ये भी नहीं समझा जा सका जिनको हमने मारने का है वे मनुष्य की हित आत्मा के ऊपर नहीं उठने देते हैं इस बात को नहीं समझा जा सका इस बात को समझना अत्यंत उपाधेय है अगर आपके इस कॉलेज के बाहर एक तख्ती लगा दी जाए जिस पर लिखा हो कि भीतर झांकना मिले है तो आप समझते हैं अहमदाबाद में ऐसे समय में आदमी मिल जाएंगे जो बिना की मदद है हम कुछ मिल सकते हैं कुछ में आदमी मिल सकते हैं जो दूसरी तरफ आंख करके मिल रहे हैं लेकिन आप हाँ, दूसरी तरफ होगी मन तकती की तरफ ही होगी सीधी आंखों से भी चीजें नहीं देखी जाती तिरछी आंखों से भी चीजें देखी जाती हैं और सीधी आंखों से देखे जाने पर तो चीजों से मुक्ति हो जाती है तिरछी आंखों से देखे जाने पर चीजें बहुत पीछा करती हैं उनसे मुक्त होना असंभव हो जाता है कुछ लोग हो सकता है तैरते नहीं कि कोई और को मैं देख लें कि मैं भक्ति देख रहा हूं क्योंकि हमारा संयम और सज्जनता दूसरों के डर पर ही खड़ी है रिस्पेक्टेबिलिटी तो ज्यादा नहीं है दूसरे लोग यह देख रहे कि सज्जन आदमी तख्ती के पीछे झांक रहा जहां लिखा है कि में मना है इस डर से कुछ लोग बिना झांके निकल जाएंगे लेकिन वे बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे दुकान पर कहेंगे तकती तख्ती के आसपास भी चक्कर काटते रहे तो दिन मुश्किल हो जाएगा दिन मुश्किल हो जाएगा वो तकती बार गुलामी लगेगी कि आओ और झांको सांझ होते तो होते अंधेरा गिरते गिरते अधिक समय में किसी न किसी बहाने से इस रास्ते से निकलेंगे में कोई भी हो सकता है रास्ता यही हो लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ और भी जरूरी विज्ञान निवृत्ति में चुका हो और लोग तो एक बात निश्चित है रात सपनों में रोज तख्ती के पास जरूर आएंगे आने भी पड़ेगा मैं के कुछ शाश्वत नियम है मनुष्य को जिन बातों से रोका गया है मनुष्य उन्हीं बातों में गिर गया है और जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य मनुष्य के ऊपर हुआ है वो हुआ है सेक्स के संबंध में सेक्स के संबंध में मनुष्य के मन में इतनी निंदा करी गई है उस तख्ती पर इतने जोर से लिखा गया है कि मैं जोड़ लो कि सारे मनुष्यता उसी तख्ती में झांकती है और नष्ट हो जाती है सेक्स के ऊपर इतने तेजु इतने रोग सेक्स के संबंध में इतनी अंदा सेक्स के संबंध में इतने गरीब प्रचार किया गया है चारों वर्षों में कि मनुष्य के मन में सेक्स के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बचा मनुष्य को सेक्सुअल बनाने में मनुष्य को कम बनाने में साधुओं संतों का ग्रोथ है और जिस दिन मनुष्य जाति समझेगी साधु संतों की लंबी कला इतनी बड़ी अपराधी से होने वाली है जिसका कोई हिसाब नहीं है ये अपराध है मनुष्य को सेक्सुअल बनाने का सेक्स तो स्वाभाविक चीज है सेक्सुअलिटी मनुष्य की ईजाद है काम तो स्वाभाविक है सारे पशुओं में काम है लेकिन कामों का सिर्फ मनुष्य में ये मनुष्य में कामकता कैसे पैदा हो ये कामकता पैदा की गई है ये कामकता मन के नियमों को न समझने पैदा हो गई है मनुष्य को धोखा गया है वर्जित किया गया है इंगला किया गया है जिस चीज को हम वर्जित करते हैं इनोवा करते हैं विरोध करते हैं निंदा करते हैं हमें पता नहीं हो लेकिन सेक्स के संबंध सब तरफ आंख बंद है एक बहुत बड़ा विचारक और लेखक अनाटोल फ्रांस मरण से ज्यादा खड़ा हुआ एक मित्र से मिल गया था और अनाटोल से पूछने लगा अनाटोल तुम्हारे जीवन की अंतिम घड़ी निकल रही है जब से पूछता जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण तुमने क्या पाया अनाटोल ने कहा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हें तो पास आ जाओ स्वामी नहीं कर सकता वो आदमी पास करता है आना दोनों के पास काम कर दिया लेकिन हम लोगों ने काम तो तो तो के पास वोट कर लिया बोला उसके नहीं सरकार के बाद वोट तो नहीं हमारे लोगों ने कहा कि तुम समझते हो बोलने की कोई जरूरत नहीं आप हम समझते हो हमें बिना बोले कुछ कह दिया बिना बोले उसमें चुप हो गए लेकिन चुप होने से कोई तथ्य बदल नहीं जाते चुप होने से तथ्य में हो जाते और जो तथ्य जितने उन्हें होंगे उतने पकड़े हो जाते तथ्य होने चाहिए प्रकाश में तथ्य होने चाहिए ज्ञान में मनुष्य को तमुख बनने की जो रोल की है वो यह है कि काम को सेक्स को मनुष्य के ज्ञान में न दो उसे में लग दो जानता था तो भी अंधेरे में काम उसके प्राणों को घेरता है और दूसरी तकलीफ यह है कि काम प्राणों को घेरे कैसे दबाओ उसका प्रमन करो सप्रेस करो सारी दुनिया में सप्रेस नारायणती है सारी दुनिया में गर्म करने वाली नीति है इसलिए कोई मनुष्य मदद नहीं हो पश्चिम में एक संस्कृति का जारी है तांगी एक संस्कृति में कहता है सर्वश्रेष्ठ कल्चर संस्कृति दुनिया में संस्कृति जो केंद्रिक संस्कृति है वो संस्कृति है हमारे गुरु बड़े खुश होंगे ये बात जानते कि कारण की पश्चिम की संस्कृति को इंद्रिक कहता है और फिर मन में सोचेंगे कि शायद हमारी संस्कृति इंद्रियों के ऊपर हमारी संस्कृति भी इंद्रियों के ऊपर नहीं फर्क थोड़ा सा है टाइम भी को साफ होगा वाला पश्चिम की संस्कृति को कहता है सिंह से और पूर्व की संस्कृति कहता हूं हिपोक्रेट पश्चिम की संस्कृति है अमृत और पूरब की संस्कृति है पाखंडी भीतर इंद्रिकता है और ऊपर से पाखंड है इंद्रिकता का उल्टा भीतर भोग है भीतर सेक्स है ऊपर ब्रह्मचरी की बातें हैं और संयमी जीवन में इस तरह की किताबें भीतर सही है तो पश्चिम में ऊपर से एक धोखा और मेरा मानना है अनिवृत्त व्यक्ति तो किसी दिन इंद्रियों से मुक्त हो भी सकता है क्योंकि इंद्रियों से परिचित होने के बाद इंद्रियों के भीतर रह जाने का कोई भी कारण नहीं रह जाता लेकिन पाचन भी आदमी कभी इंद्रियों से मुक्त नहीं हो पाता क्योंकि पाचन के आदमी ऐसे गोल चक्कर में रह जाता है खुद को धोखा करने से तो खुद को धोखा करने के बाद नहीं रहता है ये ख्याल है दूसरा अगर आप देता नहीं दूसरा वहां कोई है नहीं दाखिल के आदमी मनुष्य जाति का सबसे विकृत रूप है लेकिन दमन करने वाली मूर्ति पाखंडी आदमी को सबसे ज्यादा सम्मान देती है पाखंडी आदमी का क्या मतलब पाखंडी आदमी का मतलब है कि भीतर में कुछ और है लेकिन उस भीतर के उसने दबाया गया है सब सप्रेस किया गया है बाथरूम से कुछ और है वो दवा मुश्किल जिंदगी के दिखाने के रास्ते और जीने के रास्ते और वो चलता से अगर मैंने कभी देखा नहीं ऐसा आदमी लाख कर जाए कि पाबंदी भी पाबंदी आखिर आदमी है लेकिन Thank you. से नहीं आते और सज्जनों के लिए विशेष चिंता बताना हमारा कर्तव्य है दरवाजा है आपका स्वागत है आप आइए फिर पुलस करके पीएस करके पीछे से लिखा था लाल शहरी से एक बार आपको सूचित कर दे दरवाजा तो है पीछे का आप खुशी से आइए कोई आपको नहीं देख सकेगा लेकिन तो भगवान देख सकेगा कि नहीं भगवान हम नहीं जानते और ये भी करके तो सेक्स के सिवाय हमें कुछ भी नहीं मिलेगा सत्तर साल अस्सी साल के बड़े आदमी को भी सेक्स से मुक्ति नहीं होती अस्सी साल का बुरा आदमी भी अगर स्त्री को देखे तो उसकी आंखें उसके वस्त्रों के भीतर प्रवेश करती ये क्या स्थिति है साधु सन्यासियों की किताबें पढ़िए उनके प्रवचन सुनिए तो स्त्री को नरक का द्वार बताने के बाद में स्त्री के अंग अंग की जैसी मधुर चर्चा हो जाती है फिल्म का भी नहीं कर सकते स्त्रियों के बच्चों का विस्कृत का सबका हिसाब साधु सन्यासी रखते ये रस अद्भुत है ये रस किसलिए किसी को मैं बताने का कारण भी कहीं यही तो नहीं है कि भीतर स्त्री पर बहुत क्रोध है और भीतर स्त्री से बड़ी लड़ाई चल रही है और भीतर स्त्री पीछा कर रही है सच बात यह है जो आदमी भी जीवन के तेरह तथ्यों से भागेगा वो तथ्य उसका पीछा करेंगे अगर कोई स्त्री पुरुष से भागेगी तो जीवन भर पुरुष उसका पीछा करेगा अगर कोई पुरुष स्त्री से भागेगा तो जीवन भर स्त्री उसका पीछा करेगी मैंने सुने हुए कोरिया के के पहाड़ी नदी के पास एक सुंदर दो भिक्षु यात्रा कर रहे थे एक बूढ़ा भिक्षु उसके पीछे उसका एक जवान साथी वो जैसे ही नदी के किनारे पहुंचे पहाड़ी नदी है तेज धार है एक युवा लड़की उस किनारे पर खड़ी है शायद उसे भी नदी पार हो लेकिन हर महीने रमजान नदी है शायद उतरने में घबराती है शायद बनने में है सूरज उतरने में है भोला भिक्षु आगे है उसके मन में एक क्षण ख्याल आया लड़की को हाथ का सहारा देकर नदी पार करा लू लेकिन तीस साल से उसने किसी स्त्री को नहीं छुआ ये ख्याल मन में आने कि उसको हाथ का सहारा देकर नदी पार करा दो जैसे उसके भीतर एक विस्फोट हो गया जैसे तीस साल से दबी हुई सारी बासलों रंगीन चित्रों में उसके सारे चित्र पर फैल गई जैसे सारा चित्र एक रंगोच छोड़ गया उस पर एक काम चलने लगी एक क्षण में वो घबरा हुआ ये क्या हुआ ये क्या हो गया मैंने ये सोचा नहीं क्योंकि क्योंकि कई मौकों पर आपने भी आंख बंद की होगी खुली आंख से स्त्री इतनी सुंदर कभी नहीं होती बंद आंखों में जितनी सुंदर हो जाती क्योंकि खुली आंख से स्त्री आखिर शरीर है पुरुष तो आखिर शरीर है खुली आंख से स्त्री चमड़ी हड्डी मांस मज्जा है आदमी की पुरुष भी वही है लेकिन बंद आंख पर काया स्वर्ण की हो जाती है स्वप्न की हो जाती है जीवन मन शुरू हो जाती है स्वप्न में जो दिखाई पड़ता है वैसा सुंदर कोई भी कहीं नहीं है क्योंकि स्वप्न में जो पाया है वो अंदर है स्वप्न भी न हो पाया फैलती न हो गलती न हो बीमार होती जिस स्त्री को कोई पुरुष प्रेम करने लगता है या कोई स्त्री किसी पुरुष को प्रेम करने लगती है तब फिर उन्हें असली पुरुष और असली स्त्री नहीं दिखाई पड़ती फिर उनके भीतर जो स्वप्न निर्मित हो गया है वही आरोपित हो जाता है वही स्वप्न में दिखाई पड़ने लगता है सामने खड़ा होकर दुनिया की समझ में नहीं आता कि ये जमाने में लड़की के पीछे पागल क्यों हो गया लड़की बिल्कुल साधारण है तुम्हारे लिए साधारण है कि उसका सपना लड़की का सवाल हो गया उससे अपना सपना दिखाई दे रहा है लड़की दिखाई देने पड़ेगी वो तब तक भी एक साहस था एक मौका था कि अगर जरूरत पड़ी तो आंख बंद कर लेंगे अब आंख बंद करने के बाद फिर कोई उपाय नहीं बचता कि आप क्या करेंगे तेजी से चल रहा है सोच जोर से चलने लगी है लगा गया है वो स्त्री पीछा कर रही स्त्री जरूर करेंगे अपने किनारे वो स्त्री पीछा नहीं कर रही उस स्त्री को पता भी नहीं होगा कि ये बोला उसकी वजह से परेशान हुआ लेकिन एक भीतर स्त्री जग गई है वो दबाई हुई स्त्री जो थी दबा रही तीस साल से पूरे भरपूर वक्त प्रकट हो गई उस लड़की का दावना लेता है वो लड़की से पूरे को गई है भीतर की स्त्री जब गई पुरुष के चित्त में भीतर स्त्री है स्त्री के चित्र में भीतर पुरुष है कोई न पूरा पुरुष है न कोई पूरा स्त्री है पुरुष का चेतन मन पुरुष है अचेतन मन में स्त्री छिपी है स्त्री का चेतन में स्त्री का है अचेतन अनकॉन्सियस में पुरुष छिपा है बाहर के पुरुष को देखकर जब स्त्री आकर्षित होती है तो उसके भीतर का पुरुष जग जाता है वही पुरुष उसे बाहर दिखाई पड़ने लगता है और इसलिए जब ज्यादा दिन उस पुरुष के सहित रहती है तो उसे फर्क दिखाई पड़ने लगते हैं जो उसने समझा था वही ये पुरुष सिद्ध नहीं होता और तब तकलीफ शुरू हो जाती है इसलिए जब तक प्रेम चलता है तब तक ठीक है विवाह हुआ और तकलीफ शुरू हो गई क्योंकि वो जो भीतर का पुरुष था उससे देर मैल शुरू हो गया उससे तालमेल टूटने लगा तब उसे पता चलता है कि नहीं ये आदमी मेरी आकांक्षा का आदमी नहीं था ये स्त्री मेरी आकांक्षा की स्त्री मुझे आकांक्षा है एक इमेज है भीतर जिसकी तलाश चल रही है और अगर उस इमेज को किसी ने जोर से चला दिया तो वो इमेज वो प्रतिमेज वस्तु नहीं होती दबाने से और बलशाली हो जाती है इतनी बल पकड़ लेती है कि जिस दिन वो कूदती सारे चित्त में विस्फोट हो जाता है बुरा बहुत घबरा गया है किसी तरह नदी पार करके भाग रहा है लेकिन जितने जोर से भाग रहा है उतनी ही बदलाव कर रही है क्योंकि भाग रहा है बदलाव के कारण जोर से भाग रहा है रोक कर कर तो रहे तभी उसने ख्याल आया कि मेरे पीछे जवान सौंपी भी आया है तो उसके दिमाग में भी यही गलत दया का ख्याल हो जाए तो लड़की को हम आ रही मिले सुबह का कभी सब ख्याल आता है जवानों का कहीं तो उनसे भी गलती हो जाए उनसे हो गई तो लेकिन वो तो जवानों की गलती करने का होता है और आप गलती कर चुके हैं तो क्या करें उनको भी करने दें आप भी बिना गलती के नहीं रहे आपके बाप में भी चाह था कि गलती ना हो उनके बाप में भी चाह था कि गलती ना हो उनकी गलती होगी नहीं कभी गया पीछे मैं कर देखा गलती कह तो चुकी है वो जवान किसी लड़की को कंधे पर बिठाए तो नहीं पाया होगा ये तो हद हो गई हाथ से छूने के ख्याल से इतनी मुसीबत हो गई थी तो कंधे में बिठाने से क्या नहीं मिल रहा है आजादी राष्ट्रपालन हो रहा है तो क्या हो रहा है लेकिन तो उस बात लड़की को उतार दिया फिर अपने रास्ते पर चल पड़ा दो दिन बाद जब वे आश्रम के द्वार पर पहुंचे दो दिन तक बुरा बोला नहीं भारी क्रोध है अक्रोध के साथ शायद ईर्षा भी है ईर्षा भी है जरूर नहीं तो क्रोध भी पैदा नहीं हो सकता ये ध्यान रखना ईर्षा भी है उस लड़के को उस युवती को कमरे में बिठाए रखे हुए असंभव है कि बूढ़े को ये ख्याल में आया हो कि मैं भी कमरे पर बिठा सकता था लेकिन चूक हो गई फिर क्रोध भी है कि लोग मैं किस भूल से बच गया ये इसलिए मैं भूल कर दी फिर यह भी ख्याल है कि गलत हुआ है जाके सीढ़ी पर खड़े होकर उसने मेरा भिक्षु का कि सुनो मैं गुरु से जाकर बिना तरह नहीं रह सकता हूं तुमने लड़की को तो लेकर क्यों उठाया उस युवक ने कहा लड़की कंधा उठो बहुत देर की बात हो गई सर artist in career है and your soldiers are really doing it and look at that. वो तो तो कहाँ तो आ रहे उस लड़की को लड़की को चलो मेरी बात खत्म हो गई आप हाँ, अभी भी ढो रहे हैं क्या और आपने तो कंप्यूटर लिया भी नहीं कंप्यूटर बिना लिए भी ढोना हो सकता है कंप्यूटर लेकर भी ढोना नहीं हो सकता है और मेरा मन नहीं है कि जो कमरे पर लेने वो किसी दिन मुक्त भी हो सकता है और जो कमरे पर लेने से रुक जाए वो कभी भी मुक्त नहीं होता है नहीं हो सकता जीवन के नियम ऐसे नहीं सेक्स हर आदमी के कमरे पर चढ़ गया है और हर आदमी के प्राणों पर छा गया है और बच्चे बच्चे को हम सेक्स सिखा रहे हैं सेक्सुअलिटी सिखा रहे मौन रहकर चुप रहकर इनकार करके हम बच्चों को सेक्स से मुक्त होने में सिखा रहे तो जितना ब्रह्मचरी के पाप सिखाओगे बच्चे उतने काम करके चले जाएंगे और खोज लो पूरी पृथ्वी पर आज हिंदुस्तान में जितने काम होता है निम्न कैसे की वैसे शायद पृथ्वी पर कहीं भी तो नहीं आज हिंदुस्तान में स्त्री का सड़क से निकलना मुश्किल आज लड़की का पालन में होने मुश्किल है कितने गाड़ियों रखते हैं कितने भक्त लगे हैं कितने पत्थर रहे हैं और मैं किसी से कह भी नहीं सकती क्योंकि स्वीकृत हो गया कि ये ऐसा होता है ये ऐसा होने का कारण है कमन ये ऐसा होने का कारण है सेक्स के संबंध में अध्ययन ये ऐसा होने का कारण है मनुष्य के मन को हम गलत ढंग से दबाने की चेष्टा सिखा रहे हैं मनुष्य के मन को सौ किताबें पढ़ेंगे सौ लड़ेंगे तीन से एक सौ एक सेक्स से संबंधित होते हैं फिल्म बनेगी तो सेक्स होगा देश भी देखने हो साधन भी देखने हो तो सेक्स के सिंबल का उपयोग करना पड़ेगा एक मैंने और खड़ी करनी पड़ेगी साधन बेचना हो तो भी टूथपेस्ट बेचना हो तो भी साहित्य पीछे से बेचो और आगे से बेचो सारी दुनिया में आगे पीछे बिक रही हर चीज के लोगों का औरत दिख रही लेकिन हमें दिखाई पड़ता कि चढ़ाकर तो हर चीज क्यों सबसे सक्सेसफुल होकर चली जाती हर चीज हर चीज की शक्ल अंतता भीतर से सेक्स के सिंबल से क्यों जुड़ रही है हम उसी सिंबल से बचने चाह रहे हैं इसलिए नहीं है कि आप जो में जिन्हें सोचो कि फिल्मों ने लोगों को बिगा दिया कोई फिल्म किसी को नहीं बिगा सकती लोग बिगड़े हुए हैं इसलिए बिगड़ी हुई फिल्म चलती है एक फिल्म कैसे किसी को बिगा सकेगी क्या पागल उनकी बात बिल्कुल एक नेचुरल बिल्कुल बुद्धिहीन बातें पूरे लोग चली जाती है बिना मामले में चलाती असली दोस्तों तो में लगना चाहिए अश्लील पोस्टर क्यों लगता है दीवार पर क्योंकि लोग देखना चाहते हैं अश्लील पोस्टर लगने की वजह से लोग नहीं देखते हैं लोग देखना चाहते हैं इसलिए अश्लील पोस्टर लगता है और अश्लील पोस्टर सब लोग देखते हैं साधु संयोगी भी और साधु संयोगी ज्यादा हालांकि एक साथ होता है अगर उनको अपनी पोस्ट पर देख के पकड़ लो उनसे पूछो तो आप क्या देख रहे हो वो कहेंगे कि हम जरा आंदोलन कर रहे हैं ताकि लोगों को अपनी पोस्टर से मुक्त कर सके तो लोगों को मुक्त करने के लिए अपनी पोस्टर मन को खजराओं को मिलकर आज बना दिए सुंदर है कोना को पूरी के मंदिर किनारे लगे खजराओं के मंदिर तो किसी फिल्म प्रोड्यूसर की तो तरकीब नहीं है किसी फिल्म अभिनेता का तो कोई भी हौक नहीं मालूम पाता लेकिन दुनिया के सारे मंदिरों के पास सेठ सुंदर क्यों खड़े हो गए आदमी हमेशा सम्मान कर रहा जिस बात की उसको हर तरकीब से पेश करना होता है चाहे मंदिर हो चाहे फिल्म हो चाहे नाटक हो कालिदास के नाटक उठा के देते वो तो वो तो आजकल के आदमी की लेना के नाटक नहीं है तो कालिदास के नाटक में इतने सच प्रतीक मिलेंगे कि किसी फिल्म में भी नहीं मिल सकते फल की वृक्षों में लड़कों में दिखाई देते हैं तो कालिदास ये दिमाग क्या करता है ये दिमाग क्या कर रहा है ये ये कह रहे हैं भीतर जो सिंबल जो प्रतीक भीतर पकड़े हुए वो बाहर दिखाई पड़ते हैं और किसी को अगर वृक्ष के फलों में स्त्रियों के स्त्री दिखाई पड़ने लगे तो उसके दिमाग का इलाज होना चाहिए हमें बाहर वही दिखाई पड़ने लगता है जो हमारे भीतर रहता है हमने खेल जन्म करी था निकाय में मुझे हमेशा चांद में सुंदर स्त्री के चेहरे दिखाई पड़ते थे और कवियों का अवसर दिखाई पड़ते क्योंकि कवियों को सुंदर स्त्रियों कभी नहीं मुश्किल हो गई मुझसे बड़ा दुश्मन सेक्स का खोजना मुश्किल क्योंकि मैं कहता हूं कि सेक्स जितना समझ लिया जाता है आपने उसको उतना ही बाहर हो जाता है आदमी सिवाय समझ के और किसी चीज से कभी बाहर नहीं होगा जिस चीज से बाहर होने हो उसको समझ लो जितने समझ बढ़ जाएगी उतने बाहर हो जाएंगे अंडरस्टैंडिंग एकमात्र फ्रीडम है समझ एकमात्र स्वतंत्रता है तो दबाना और बन जाओगे इसलिए ब्रह्मचारियों के पास जाके देखो और ब्रह्मचारियों की खोपड़ी अगर खोली जा सके तो बहुत हैरानी हो जाएगी उनके चित्त में जो चल रहा है वो बिल्कुल उल्टा वो एकदम पीड़ित और परेशान उनकी परेशानी नहीं समझ सकते आप ये साधु सन्यासियों को मिलते हैं जब वो सबके सामने मुझसे मिलते हैं एक तो बैठे मुझसे मिलने में बैठते हैं लेकिन अगर कभी मुझसे मिलते सबके सामने मिलते हैं तो आत्मा परमात्मा की बात करते हैं और अगर एकांत में मिलते तो फौरन पूछते हैं सेक्स के लिए क्या किया जाए बड़ी मुश्किल है ठीक है पूछते हैं गलती नहीं पूछते उनकी तकलीफ जिसको दबाया है वो पीछा कर रहा है मेरे सुनो में एक मुसलमान फकीर था मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन सांझ को अपने घर बाहर निकला कई मित्रों से मिलने जा रहा तो भी देखा कि घोड़े पर सवार उसके बचपन का एक सौखी आ गया है सौखी को नीचे उतार के गले मिला बीस साल बाद मित्र मिला है बहुत प्यारा मित्र बहुत पुराने मित्र मित्र से कहा कि तुम्हें आधा घंटे घर में रुको दुख की बात है कि तुम्हें घर में आए मुझे बाहर जाना पड़ रहा है तीन जगह कहीं जाने के लिए वचन दे दिया है मैं दो मेरे हो गया लौटा हो मित्रों ने कहा बीस वर्ष बाद मिले उसको छोड़ने को अच्छा जो अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ चला चलूँ लेकिन कपड़े मेरे सब गंदे रहते हैं आज के दिन से तुम्हारे पास अगर अच्छे कपड़े हो तो दे दो फकीर लिया उसके पास किसी सम्राट ने कपड़े देखते तो सुंदर कोट था पगड़ी थी जूतियां थी लिया सम्मान के रखा था खुद कभी पहने नहीं था सोचा था किसी मौके को पहनूंगा लेकिन कभी क्षण को खुशी है लेकिन दूसरे क्षण ईर्षा से भर गया ये तो कौन एकदम सम्राट मालूम पड़ने लगा उसके सामने विश्वद्वीप एकदम गरीब एक मेरा दिखाई पड़ने लगा मैंने ईर्षा पकड़ी कि मेरे कपड़े और ये सब जो शानदार मालूम पड़ गए रस्ते में लोग यहां की तरफ देख रहे और आदमी की एक ही आकांक्षा है कि लोग उसकी तरफ देखें और कोई आकांक्षा नहीं इसकी तरफ लोग देखेंगे जिसके कपड़े में कपड़े में मेरे कोई नहीं देखें दुख में नहीं तो व्यक्ति कर दी ये पहले नहीं कर लेकिन जो अपने मन को समझाया जैसा कि मन की आदत से मन हमेशा बंद करता है भीतर एक बात पक्ष में करता है दूसरी विपक्ष में करता है मन हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में मन इज कॉन्फ्लिक्ट मन बंद का ही मन वो हमेशा दो विकल्प तोड़ देता है एक मन कहने लगा कि गलती की दूसरे में कर लगा क्या पागल हो तुम्हारा बचपन का मित्र भाई से भी ज्यादा प्यारा अपनी बुद्धि को प्यार कर रहे दूसरा में मिलेगा विगत क्या है सारे लोग में उसको देखेंगे तुमको कोई नहीं देखेगा विपरीत मन कहने लगा कि कपड़ों के लिए दीवानी हो जा रहे थोड़ा सोचो तो कि तुम शरीर है तुम शरीर तक को तो नहीं मिलते तो तुम आत्मा को नहीं मिलते तो कपड़ों के लिए दीवानी हो जाओ दबा के मन समझा के किसी तरह चलने लगा लेकिन मन में नहीं चलता था मित्र दूसरी बातें कर रहा था दोस्तों में याददाश्त फकीर मित्र से होने करता था भीतर दूसरी बात चल रही थी दूसरों को समझ में नहीं आ रहा था कि मित्र क्या कह रहा उधर भीतर तो कपड़े ही कपड़े और हर सड़क आठ प्रति मित्र के कपड़े पर फिर चौंक हो जाता फिर सुनहरा मन फिर भी हो जाता संयम साधता था किसी तरह से कि मेरे कपड़ों में क्या है ये आज हमने पहले के ने पहले फिर जब कोई प्रयोग करती फिर बिखर जाता फिर से यह टूट जाता संयम आदमी के भीतर बिल्कुल तो पाए की हालत रहती बिखरती है गिरती है बिखरती है गिरती है पूरे वक्त संघर्ष होता है फिर गया मित्र के द्वार पर जो मिलने जाना भीतर गया दस कोट मित्र के सबकी आंखें कपड़े पहन करके नसरुद्दीन की तरफ किसी ने देखा भी नहीं इस दुनिया में कपड़ों के अतिरिक्त और कोई किसी को देखता भी कहा कपड़े भी दिखाई पड़ते कपड़े में देखते हम मान लेते कपड़ों में देखते हम आदमी को पहचान लेते एक आदमी गोलिया कपड़ा पहन लेता हम करते महात्मा जी मामला का इससे अलावा क्या पहचान कमजोरी का पता होता है कि ये बात नहीं करो सवाल यहाँ में तो अटकम मुझे कोई तुम चोट लगी हुई दोनों की भूल होगी गलती होगी और तभी मित्रों ने पूछा कौन है ये सच्चे कौन है मुझे नसरुद्दीन ने कहा कि मेरे मित्र ऊपर से तो कह रहा था भीतर मालूम ले रहा था कि मेरे शत्रु हुए शत्रु और कोई उनके टिकट कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता हो रही थी उनका से कहा था मित्रों भीतर से हो शब्द ने गांव को सामने लिया है सबकी नजर ऊंची बैठती है अपने को पूछ भी रहा मेरे मित्र में बचपन के साथ में बीस साल बाद आए मेरे लिए बहुत लाल आदमी और लड़े कपड़े तो कपड़े मेरे निकल गई ये बात कि रह गए कपड़े से कपड़े मेरे मित्र भी घबरा गया मौजूद लोग भी हैरान हुए कि कपड़ों के संबंध में तो उनकी जरूरत थी क्या खुद भी घबरा गया निकल गया तब पता चला कि ये क्या हो गया दूसरे से धक्के मारे उनकी ये बात की कपड़े मेरे गए समान लिया था भीतर उसको लेकिन क्षण कमजोरी में आया है वो निकल गई सिंह आदमी को चौबीस घंटे में करता है क्योंकि एक मिनट छुट्टी ही तो वो जो है निकल जाए सिंह आदमी को यह हानि देना होता है खोटे नहीं रात सोता है छुट्टी देर मन हमको छुट्टी मिल जाती इसलिए सही में आदमी रात सोने से भी डरता है कहता पांच ही घंटे तो सो चार घंटे तो सो सो ही न क्योंकि नींद में उसको डर लगता है क्योंकि नींद में मन स्वतंत्र हो जाता है दिन भर जिसको जलाया है नींद में मन वही करने लगता है तो नींद से सही में आदमी डरते और ध्यान रख लो जो आदमी नींद से डरता है वो आदमी गलत आदमी है तो उसकी जिंदगी गलत है इसलिए नींद से डरता है वो लिखो नींद से ज्यादा पवित्र है सोन तो परलोकों की गो दूसरी नहीं नींद तो परलोकों में बेच होती उससे क्या बजाते ये तो समझने वाले तो नींद परलोकों में नहीं बजाती परलोकों में दे जाती उसके भीतर न्याय है उसके दरवाजे खुल जाते दिन को दिन भर दबाया वो रात नौ का को सब छूटने लगते दिन भर क्या है कि घर में कुछ भी नहीं है रात हाथ तिजोरी और पैसे के लिए लगता है आदमी दिन कमाने की कि से कोई मतलब नहीं रहा स्वयं सीओसने को निराश नहीं हो जाता है आदमी पता नहीं आपको देखने में हमेशा राजा होने का सपना देखते हैं बेचारे ने बताया था किसी तरह निकल गया कमजोरी के छह मीटर समझे अब मैं तुम्हारे साथ दूसरे ग्रह में नहीं जाता ये क्या बात तुमने कोई लोग क्या सोचते होंगे इससे तो अच्छा तो मैं अपने धंधे करने तुम्हारे आ जाता कम से कम अपने तो थे ये तो भूल हो गए लेकिन मुझे ये क्षमा तब समझ लो कि भीतर वो माया खींच रही है वो प्राणों को जतन रही आदमी उसी को इंकार करता है जिसको भीतर से आकांक्षा दिलाती कहा कि कपूर तो ने क्या रखा है लेकिन घूम से निकल गई जवान से गलती हो गई लेकिन पता होना चाहिए जवान कभी गलती नहीं करती जवान कैसे गलती कर सकती भीतर तो को छिपा होता है कभी कभी जवान से निकल जाता है और जब भी जवान से कुछ गलती से निकल जाए ख्याल करना मैं भीतर छिपा होगा अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होगा तब जवान से निकलेगा नहीं दोनों तो नहीं निकल जाएगा लेकिन छुपाना भी और कहा कि दूसरे घर में जरूर चलेंगे तो वो घर में हमें दुख रह जाएगा कपड़े तुम्हारे नहीं है अब मैंने ये कपड़े तुमसे वापस नहीं दूंगा ये कहते गए लेकिन जैसे कहा कि तुम शुरू हुआ करीब कपड़े तो कभी अपन भी करेंगे ये तो हो ने लेकिन अब कह चुका है बहुत मुश्किल हो गई कि कपड़े में सीखे और ये भी मन में सोच बने ना रही कि अपने कपड़े भी गए दूसरे घर में गया हमने ये समझाता हुआ कि ठीक है क्या है से कपड़े उसको दे दिए तो कुछ बिगड़ने गया कपड़े उसी के हैं मन में पश्चाताप था उस पहले घर में ये कहने का कि कपड़े मेरे दूसरे घर में गया घर की महिला बाहर आई सुंदर महिला उसकी औरत एकदम ठगी रह गई उस आदमी पर जिसने खूबसूरत कपड़े पहन रखे आग लग गई लेकिन दिन लगा आदमी की पुरुष की ओर को बर्दाश्त भी होता है स्त्री की को बर्दाश्त करना वाला मुश्किल होता है किसी ने देखा नहीं उस स्त्री ने पूछा कौन हूं ये बहुत कौन से आए कौन हूं उसकी आंखों में बहुत प्रभाव मैं सिर्फ दिन में कहा कौन है मेरे मित्र है लेकिन बिल्कुल जय मालूम कर रहे हैं मित्र के कहां से इसको साथ ले आया और बड़े बड़े कपड़े सो तो कपड़े को ही ले रहे बिल्कुल हिंदी कहने की कोई बात होती जब कपड़े किसी के होते तो कहना पड़ता फिर दो दो हो गई वो दलित आदमी हमेशा दो दो में रहता है तो उसको पता नहीं होता कि जीते हुए जो दबाया है वो निकलने की कोशिश कर रहा है मैंने कहा क्या कहते हो कहीं नहीं कहा सकेंगी क्या नचेत लेकिन पागलपन हो गया निकलने का क्षमा मैं मुझे लौट जाने का तो क्यों मेरी बेजती करवाने के लिए मुझे सौंप लिया है बीस साल मुंह के बाद तो मुझे मुझे मुझे दे मुझसे दिल की छाती को बड़ी चोट लगी होगी कहा मैं किस मुंह से सब क्षमा मांगू लेकिन भूल इसलिए हो गई कि मैंने पहली गलती बात कर दी कि एक एक्सट्रीम के मेरे मन दूसरी एक्सट्रीम पकड़ ली मन हमेशा एक्सट्रीम पकड़ता है जिसे गरीब का प्रमिलन एक कोने से जाता है दूसरे कोने पर फिर दूसरे कोने पर मेरा कभी बीच में नहीं रहता बीच में रोक जाए आप में मेरा संगत कर जाएगा कहा गलती हो गई एक अति से दूसरी अति हो गई क्षमा कर दो and joy. الذين सेक्स की बात नहीं करनी सेक्स की बात नहीं करनी और सेक्स ही सेक्स हो गया क्या कहना चाहता हूं इस चर्चा से इस चर्चा से मैं कहना चाहता हूं अगर इस देश में आने वाले भविष्य के मनुष्य को स्वस्थ नॉर्मल शांत शक्तिशाली समझदार बने है तो अब तक हमने जो सेक्स का दमन किया है निंदा की है गाली दी है कन्वेशन किया है उस सबको उठा के फिर दो उसकी जगह लाओ उस सेक्स की समझ उसकी जगह लाओ सेक्स का सौम्य स्वीकार उसकी जगह लाओ सेक्स के प्रति बुद्धिमत्ता विस्डम एक एक बच्चे को समझ दो एक एक बच्चे को समझ पूर्वक जीने की कला दो ताकि वो बच्चा अपने भीतर की बच्चियों को पूरी तरह जान सके वृत्तियों को पहचान सके उन वृत्तियों से भयभीत न रह जाए उन वृत्तियों से भागने न लगे उन वृत्तियों से लड़ने न लगे उन वृत्तियों को जाने क्यों जानने पर मैं जोर दे रहा हूं क्योंकि मेरा अनुभव यह है कि हम जिस वृत्ति को ठीक से जान लेते हैं वही वृत्ति शांत हो जाती है अगर कोई व्यक्ति अपने क्रोध को ठीक से जान ले तो क्रोध शांत हो जाता है उसकी कोशिश करते देखो जान के क्रोध करने की क्रोध आए तब जानो कि क्रोध आ रहा है क्रोध है और देखो कि क्रोध विलीन हो जाए कौन सेक्स को समझो पहचानो तो जीवन का एक सामान्य हिस्सा आ जाएगा वो विकृत हिस्सा मिलेगा हम चौबीस घंटे में भी पकड़ेगा और जितना सामान हो जाएगा और जितनी गहरी समझ होगी उतने ही व्यक्ति उससे ऊपर उठना शुरू हो जाता है और जिस व्यक्ति के भीतर सेक्स की ऊर्जा ऊपर उठनी शुरू हो जाती है उस व्यक्ति के जीवन में परमात्मा का द्वार हो जाता है क्योंकि मनुष्य के पास शक्ति सेक्स के सिवाय दूसरी नहीं वीर के सिवाय मनुष्य के पास कोई शक्ति नहीं वही शक्ति जब समझ पूर्वक उपलब्धियां शुरू होती है तो परमात्मा के द्वार खोल देती है जीवन के रहस्य के द्वार खुल जाते हैं लेकिन तो तो गलत शिक्षा में गलत संस्कारों में गलत सभ्यता में मनुष्य की शक्ति को ऊपर करके द्वार बंद कर दिए हैं और शक्ति को ऐसे बंद कर दिया जैसे किसी के लिए द्वार को बंद कर दिया अगर कैसे केंद्रीय रही है नीचे से आग दी जा रही है और कोई कोई कर रही है कोई कर रहा है उनके और विस्फोट होगा एक एक आदमी के भीतर सेक्स की ऊर्जा का एक्सप्लोजन हो रहा है सेक्स की ऊर्जा का सबमिनेशन नहीं सेक्स की ऊर्जा का दर्द बदलना नहीं सेक्स की ज्योति का मदद करना नहीं विस्फोट हो रहा है आदमी खंड खंड में डूबता जा रहा है दुनिया भर के कारण खोने में जितने लोग बंद हुए तो कहते हैं सौ में से नब्बे प्रतिशत पागल सिर्फ सेक्स के विस्फोट से पागल होते हैं और ये ये भी कहते हैं कि जो लोग पागल खोने में मिलेंगे वो मिले समझो कि पागल नहीं होगी दो तरह के पागल गई क्यों क्योंकि मुझे सेक्स की ऊर्जा वो विकृत हो गई अगर मनुष्य को स्वस्थ बनाने में शांत और आनंदपूर्ण बनाना है तो सेक्स के प्रति दुर्भाव क्यों हो सेक्स की समझ छोटे से छोटे बच्चे को मिलनी चाहिए सेक्स के संदर्भ में से पता भी नहीं चलना चाहिए कि कोई गंदगी बात है कोई मर्द निकलने का दरवाजा है कोई बाहर है कोई सिंह बात पता भी नहीं चलनी चाहिए उसे पता चलेगा इस जिंदगी का हिस्सा है जिसे बच्चों में फोन करके बड़ों को भी फोन किया बहुत खुश होते हैं फूलों को देख के आप सोचेंगे फूल में क्या छिपा है फूल में भी छिपा है कम से दक्षिका वो बीज है उसके भीतर सेक्स का जो रोक जाएगा जमीन में गिरेगा और मेरा पौधा पैदा हो लेकिन फूल को कभी कोई बाहर नहीं जाता किसी दिन अगर कोई समाज बहुत ज्यादा बाहर हो जाए तो फूल को भी बात करने लगे तो जाएगी झूठ खत्म करने पड़ेगी सुनिए प्रेम की आवाज कितने खुश होते हैं सुनते वो कुटियों को चिल्लाते सुने वो सब सेक्स की पुकार वो सब सेक्स है वो अपने प्रीतमों को बुला रहे आवाज से वो आवाज खींचने का होता अगर पता चल जाए तो मार डालो छोड़ दो ये पूरी जिंदगी का सारा सृजन सेक्स से हो रहा है सारा सृजन सारे जीवन में जरूर से सेक्स को परमात्मा में सृजन की विधि माने वो ओरिजिनल सोर्स है सारे जीवन के विकास का उसकी निंदा कर रहा है उसको गाली दे रहे हैं उसको ज्ञान दे के उसको निंदा करके तुम्हारा कल्याण सिर्फ खुद ले जाओ और पूरी आत्मिक रही है नहीं उसे समझो उसे पहचानो उसे जानो उस शक्ति को ऊपर उठाने के लिए ज्ञानपूर्वक प्रयास करो एक दिन जीवन में ब्रह्मचरी फलित होगा ब्रह्मचरी सेक्स के विरोध में फलित नहीं होगा सेक्स की समझ से फलित होगा ये थोड़ी सी बातें मैंने कही उनका सोचो जरूरी है कि मेरी बातें ठीक हो हमारी हो जो भी आप हो जाता है मेरी बात मान लो आप आपने अच्छा नहीं है तुम्हें ही पर्याप्त है कि तुम मंत्र का पूर्वक मेरी बात सुनो मेरी सारी बातें गलत हो सकती है सोच लो समझ लो खोज लो हो सकता है कोई सत्य का कम उसमें दिखाई पड़ जाए और अगर सत्य का नहीं कम दिखाई पड़ जाए तो वो सत्य तुम्हारा अपना होगा और अपने सत्य मनुष्य को मुक्त करता है अपने सत्य मनुष्य को जीवन के सौंदर्य तो जीवन की गणना जीवन के गौरव तक ले जाता है परमात्मा है तुम्हारे भीतर छिपी हुई ऊर्जा तुम्हें एक दिन परमात्मा के द्वार तक पहुंचा दे पागल होने में द्वार तक नहीं मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुनो उससे बहुत अनुग्रहित हो और अंत में सबके भीतर गए परमात्मा को प्रणाम करता हूं मेरे प्रणाम स्वीकार